और जिन लोगों ने हमारी आयतों को छुटलाया है वो अंधेरों में भटकते भटकते बहरे और गूंगे हो चुके हैं अल्लाह जिसे चाहता है उसकी हठधर्मी की वजह से गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है